हिलो मत हिलो मत विक्रांत विक्रांत गीता चिल्ला पड़ी साथ में संगीता भी विक्रांत को बैठने के लिए कहने लगी विक्रांत के माथे से खून बहता देख देव ने भी उसे समझाने की कोशिश की सर आप आ, आप बैठिए परेशान मत होइए हमने उसे पकड़ लिया है और अभी इंटेरोगेशन चल ही रही है अगर वो कुछ नहीं बोलता तो फिर आप जाकर इंटेरोगेशन कर लेना लेकिन अभी आप स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज हाँ वही तो अब तो पुलिस कस्टडी में है अब जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है आज नहीं तो कल उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा संगीता ने कहा तब जाकर विक्रांत दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गया इसके बाद सभी पुलिस ऑफिसर ने फिर से विक्रांत को थैंक यू बोला और फिर वो वहां से चले गए विक्रांत शांत होकर बैठ तो गया था लेकिन अभी भी उसके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे थे ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि अगर साजिद सब कुछ सच सच बता देगा तो भी मंजू के मर्डर के पीछे असली कारण नहीं पता चल पाएगा कहीं कुछ तो जरूर मिस हो रहा है मंजू के मर्डर के पीछे कुछ और भी कहानी है अभी कई सारे और भी राज बाहर निकल कर आने बाकी थे अभी विक्रांत के पास एक लाइट डिटेक्टर था और उसने सोचा कि उन्नीस वाले किडनैपिंग केस में इंटेरोगेशन करते वक्त उसका इस्तेमाल करेगा लेकिन इस वक्त के सिचुएशन को देखते हुए उसे लग रहा था कि शायद साजिद खान को ही इंटेरोगेट करते वक्त उसे अपने लाइट डिटेक्टर को इस्तेमाल करना पड़ जाएगा हालांकि विक्रांत अब तक चार बार लाइट डिटेक्टर का इस्तेमाल कर चुका था लेकिन फिर भी उसके मन में लाई डिटेक्टर के परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा संशय था पिछली बार उसने लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल रमेश सावरकर और मीरा अग्रवाल मर्डर केस पर काम करते समय किया था तब उसने लाई डिटेक्टर का इस्तेमाल नितेश और अनीता पर किया था उस वक्त तो लाई डिटेक्टर ने बिल्कुल सही रिजल्ट दिए थे लेकिन इस वक्त विक्रांत के दिमाग में यह ख्याल उठ रहा था कि क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट किसी भी रैंडम आदमी पर भी करने से इसका रिजल्ट सही आता है या नहीं अगर ऐसा हो गया तब तो काम काफी आसान हो सकता है तब तो विक्रांत इस किडनैपिंग केस के मुजरिम तक बड़ी जल्दी पहुंच सकता है वो करजत के पास जाकर किसी भी आदमी को उठाकर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कर सकता है फिर उससे नॉर्मल सवाल पूछकर मुजरिम के करीब पहुंचने में सफलता पा सकता है वो किसी भी आदमी से ये पूछ सकता है कि क्या मुजरिम करजत या लोनावला का रहने वाला है या नहीं क्या वो पुरुष है या महिला उसकी उम्र तीस चालीस साल के बीच है इस तरह के सवालों के सही जवाब अगर मिल जाए फिर तो किडनैपर को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा लेकिन सबसे बड़ा संशय यही था कि लाइट डिटेक्टर इस तरह से आम लोगों पर काम करता भी है या नहीं कहीं अगर ऐसा हो गया कि लाइट डिटेक्टर सिर्फ केस से जुड़े लोगों पर ही काम करता हो तब तो सारा खेल खराब हो जाएगा ना तो किडनैपर का पता चलेगा और ना लाइट डिटेक्टर रह जाएगा तभी अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया और वो अपने दिमाग के सिस्टम को खोलकर उसमें से लाइट डिटेक्टर को यूज करने के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने लग गया उसमें देखने पर पता चला कि लाइट डिटेक्टर को सिर्फ खास सवाल के लिए और खास लोगों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है खास लोग और खास सवाल ओह मतलब मेरा शक सही था विक्रांत ने मन ही मन सोचा इस लाइट डिटेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी विषय से संबंधित सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि उससे किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हो पिछली बार जब उसने लाइट डिटेक्टर का इस्तेमाल अनीता पर किया था तब इसलिए इसका रिजल्ट बिल्कुल सही आया था क्योंकि अनीता उस केस से जुड़ी हुई थी भले ही उसने मीरा का मर्डर नहीं किया था लेकिन फिर भी वो केस से कनेक्टेड तो थी ही ये सब जानने के बाद विक्रांत ने निश्चय किया कि वो अपने लाई डिटेक्टर को इस तरह से बर्बाद नहीं करेगा अभी वो केस के बारे में खुद से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि अगर उसने मेहनत की तो उसे एक दो और लाई डिटेक्टर मिल जाए फिर वो इसे किसी पर भी आजमाने का रिस्क भी ले सकता है फिलहाल अभी तो वो खुद से ही केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाला है वैसे मंजू की मौत ने विक्रांत के सभी प्लान पर पानी फेर दिया था अभी वो मंजू की मौत के पीछे के राज से जल्द से जल्द पर्दा उठाना चाहता है उसे शक था कि हो सकता है मंजू की मौत का कारण वो किडनैपिंग केस भी हो सकता है और अगर ऐसा सच में हुआ तो वाकई में ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि विक्रांत खुद भी उस केस पर शिद्दत से काम कर रहा है अगर मंजू को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो किडनैपिंग केस से मुजरिम के बेहद करीब पहुंच चुकी थी तो फिर इस वक्त विक्रांत के सिर पर भी खतरा मंडरा रहा है और वो किडनैपर बहुत ही खतरनाक आदमी है हालांकि विक्रांत को खुद पर पूरा यकीन था कि वो बहुत जल्द इस किडनैपर को पकड़ लेगा उधर अभी तक साजिद खान से पूछताछ चल ही रही थी पुष्कर और चेतन मिलकर उससे काफी देर तक पूछताछ करते रहे लेकिन कोई भी खास रिजल्ट निकल कर नहीं आया फिर उन्होंने संगीता को भी इंटेरोगेशन रूम में बुला लिया था हालांकि विक्रांत भी चाहता था कि उसे इंटेरोगेट करने का मौका दिया जाए लेकिन विक्रांत के गुस्से को देखते हुए उसे साजिद के पास भी नहीं फटकने दिया जा रहा था सो अब विक्रांत के पास बाहर रहकर इंटेरोगेशन पूरा होने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था जब उनका इंटेरोगेशन पूरा हो जाएगा तभी विक्रांत को साजिद के करीब जाने का मौका मिलेगा अब तक गीता विक्रांत के माथे और हाथ में टांका लगा चुकी थी टांका लगने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक था उसके कंधे पर जो गोली लगी थी वो काफी दूर से मारी गई थी और गोली भी नॉर्मल स्टील से बनी हुई थी इसलिए उसे अब ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी यहाँ तक कि पैर में जो हल्की फुल्की चोट लगी थी उसका दर्द भी अब तक ठीक हो चुका था लेकिन सुदेश की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी